और वो कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम वाकई फिर जिंदा किए जाएंगे